निवृत्त पुरुष वेदांत संप्रदाय का प्रवर्तक हो नहीं सकता है कदेव वशिष्ठ आदि ग्रस्त थे कदेव ग्रस्त कहा थे हमारे दृष्टि से ग्रस्त थे तो स्वस्वरूप दृष्टिया स्वस्वरूप स्थिति अनुसार है ना वो ग्रस्त थे ही नहीं ग्रस्त होते और वास्तव में बहुत जो ने एक सौ बच्चे पैदा किए होते तो उनके मरने पर उनको दुख क्यों नहीं हुआ आपका एक बालक मर जाए तो बड़ा दुख हो जाता है एक चेहरा छूट जाए तो बड़ा दुख हो जाता है गुरु को तो आज सैकड़ों मारे गए कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों किसी को ग्रस्त आश्रम में केवल लोक संघार्थ ही रहे हैं वास्तव में वो सन्यासी ही थे इसलिए अधिष्ठान दे रहे हैं को तो अनुसंधान ग्राहक से आभास मात्र तत्व अनुसंधान मूर मुहूर् बढ़ा क्योंकि तत्व अनुसंधान में ये बारम्बार विभिन्न प्रकार से बाधा डालने वाला चीज है गृहस्थ आश्रम अब आप बैठ के ध्यान चिंतन करना चाहते वेदांत चिंतन करना चाह रहे हैं कि तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला लेकिन उसका समय आ गया सवेरा हो गया अब क्या करेगा संध्या पाठ करेगा कि वो ध्यान करेगा अब वेदांत चिंतन में बाधक हुआ कि नहीं हुआ प्रातः काल हो जाने से बाधा आ गई और गृहस्थ आश्रम इसलिए भी बाधा बनता है स्त्री नियंत्रण वाली हो तब तो ठीक है तो बड़ा मुश्किल वो जब चाहे तब संबंध करोगे तो कहा ब्रह्मचरी रहेगा हृदय बाह्याम अच्छे का है ऋतु काल में ऋतु ऋतु काल में क्या होता है कि जो तीन दिन का मासिक चरण चला है पांच दिन चले जो भी चले उसके समाप्ति के बाद शुद्धिकरण के ती, अनंतर तीसरे दिन उस तीसरे रात से ही आप संपर्क कर सकते तेरह रात के भीतर ये विधि कर दिया गया उसे आगे पीछे नहीं आज के जमाने में कैसे चलेगा ये गाड़ी तो ऐसी स्थिति वालों के लिए ब्रह्मचर्य ही जब नहीं हो सकता है ग्रस्ताश्रम में रह करके तो कहा से वो ब्रह्म विद्या का संप्रदाय कर्तृत्व आ जाएगा और वशिष्ठ आयु में सब सामर्थ्य थे आयु भी लंबी थी अब फिर सौ साल का है सौ बच्चे कैसे हो अरे कौन सी बुरी बात एक लाख साल तो सत्यु का आयु है अब एक लाख साल में सौ बच्चा पैदा भी कोई कर दे तो कौन सी बड़ा बात कम नहीं हुआ ना बहुत बहुत कम फैमिली प्लानिंग में काम किया लग रहा है क्योंकि आप तो सौ साल आयु नहीं दस दस बारह बारह पैदा कर दे रहे हैं नहीं कर रही क्या देखो बोले तो हमको तो पता चलेगा एक आदमी पांच पत्नी पच्चीस बच्चे सौ साल आयु नहीं और वो जो है एक लाख साल आयु होता है सौ ही बालक हुए बच्चे हुए के साथ तो कितना वो नियंत्रण में थे ब्रह्मचर्य कितना उत्कृष्ट रहा कल्पना कर सकते हैं तो इसलिए उन लोगों की सदस्यता लेकर के यहाँ पर सर्वत्र कानून बना दो यह हो नहीं सकता है और उनकी स्थिति भी क्या थी यश्य में चाप्त सर्वत्र यश्य में नास्त किंचना विचेरायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन दही वो स्थिति भी तो कहा है ग्रस्त ने कि सब ग्रस्त को आप प्रवर्तक करा दो वेदांत ब्रह्म विद्या संप्रदाय का उनकी स्थिति को यक्ष में चास्त सर्वत्र इस सारी दुनिया में जो कुछ वो मेरा है और साथ साथ यश में नास्त किंचन मेरा वास्तव में संसार में कुछ भी नहीं सब कुछ मेरा है भी और मेरा कुछ भी नहीं भी लक्षण होता है के ये लौकिक दृष्टिया लोक दृष्टिया लौकिक दृष्टि है साथ साथ लोक दृष्टिया मैं राजा हूँ इस उपाधि को लोग राजा कहते हैं अतः राजा कहे गए इस उपाधि का संबंध सभी के साथ होने से सभी एक राजोपाधिक व्यक्ति का सारा का सारा चीज मेरा है व्यवहार होगा लेकिन अपनी तात्विक दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ मेरा अपना संसार में कुछ भी नहीं इसलिए सारी मिथिला भी जल जाए मिथिलायम प्रदीप्तायाम न में किंचन दयते मेरा कुछ भी जला ही नहीं एकाश उत्कृष्ट स्थिति थी ना तो ऐसा एकाध व्यक्ति अपवाद होता ग्रस्त को लेकर के आप सामान्य नियम बनाओ यह उचित नहीं है इसलिए कर्माभास में समुच्चय इसे कर्माभास के साथ समुच्चय करना उचित नहीं है इसलिए वहां जो भी कर्म था किसमें जनक में चाहे वशिष्ठ आदियों में कर्म नहीं था कर्माभास था इसे कर्माभास को देख करके आप यहाँ सर्वत्र कर्म सहित ज्ञान मोक्ष का साधन है समुच्चय करना उचित नहीं यद किंचित अपवाद स्वरूप ग्रस्त में से दिखाई दे रहा हो वह कर्म है ही नहीं वास्तव कर्माभास वह केवल ज्ञानी था अतव मुक्त थे इसीलिए वह ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व उनके अंदर स्वीकृत है इसलिए कहते कि देखो ऐसी स्थिति में आप यह तत्व निर्णय करने के लिए क्या करना चाहिए साहित्य च व्याख्यम उपसंवर्धी एवं न यह इमाम भ्रम विद्या उपयंती कहते उपनिषद नाम क्यों पड़ा इसका यदि कठोपनिषद भी एक बार उपनिषद शब्दार्थ का विवेचन कर चुके हैं भाषिकार फिर दोबारा यहाँ कर रहे हैं यह इमाम ब्रह्म विद्या उपयंती आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सरा संत गर्भ जन्म जरा रोगाद्यनर्थपूगम निशात यति उप नि और शगिल रातों का विशरण विशरण गत्यवसाधन तीन अर्थ है ना उसका पहला अर्थ लिया विशरण निषाद यति मैंने शिथिलीकरण होती किसको शिथिल करेगा यह ये पुरस्सराह संत पहुंचेंगे ना ये श्रद्धावती पुरस्कार संत जो लोग श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के इमाम ब्रह्म विद्या इस ब्रह्म विद्या को उपयंदी आत्मभावे प्राप्त होती जो इस ब्रह्म विद्या को आत्मभाव से ग्रहण कर लेते हैं ये शब्दार्थ ग्रहण करने वाली बात नहीं है भाषिकार यहाँ सतर्क होकर कह रहे हैं आत्मावेन स्वाभिन्न स्वरूप नहीं ग्रहण करता हुआ जो हो, जो होंगे उन लोगों का जो गर्भ जन्म जरा रोग आदि है ये अनर्थ समूह से वो शिथिल हो जाते हैं इनको शिथिल करके क्या करेगा अब गति और अवसाधन दौर रहिए ना उसका विकटा है परम व ब्रह्म यति और पर ब्रह्म को ही प्राप्त कराता है करके क्या मिला अविद्या संसार कारण अत्यंतम अवसाद यदि अविद्या आदि के संसार का कारण है उन सभी का अत्यंत अभाव को प्राप्त कर देगा अवसाधन कर देगा विनाश कर देगा विनाश इति उपनिषद ये शब्द तीन अर्थ ले लिया ना शिथिलीकरण गमन अवसाधन ऊपर ही कार्य कर दिया ब्रह्म विद्या के पास पहुंच करके ब्रह्म विद्या के पास पहुंचने का मतलब उसको स्वस्वरूप में ग्रहण कर ले क्योंकि जो ब्रह्म विद्या है वही ब्रह्म है वही ज्ञान है वही स्वरूप है कोई अलग चीज है नहीं अपने से भिन्न कोई ब्रह्म विद्या हो और उसको मैं ग्रहण करो ऐसा नहीं हो सकता उसको प्राप्त करो स्व से भी नहीं, नहीं कि जो ब्रह्म विद्या है वह शुद्ध ज्ञान है जो शुद्ध ज्ञान है वो आपका स्वरूप है सुस्वरूप से भिन्न कोई शुद्ध ज्ञान प्रविद्या नाम की चीज हो और उसको हम ग्रहण करें ऐसा नहीं हो सकता स्वरूपात्मक प्रविद्या रूपी ज्ञान को लक्षित करने वाले शब्दों को हम गुरुमुख से उसको सुनते हैं सुनने के बाद उस विद्या का हम ब्रह्म विद्या का पचना वेदांत पचना का मतलब क्या उसी ने लिखा आत्मभावे न उस ब्रह्म विद्या को आत्मभाव से ग्रहण करना स्वरूप ग्रहण करना जब वो स्वरूप जब ग्रहण कर लेगा तब क्या होगा जरा जन मरण का रह जाएगा कि स्वर्ग में सब है नहीं इसलिए सब शिथिल पड़ जाएंगे लेकिन जैसे जैसे उसको ग्रहण स्वात्म ग्रहण करने के बाद अहम ब्रह्मास्त्र करके अनुभव करोगे जब तक अविद्या सब कुछ नाश है उसका आगे लिखा परम ब्रह्म गमयती अविद्या संसार कारण विनाशयती उपनिषद उपनि पूर्व से सदैर एवं अर्थ स्मरणार्थ उप और नी इन दो उपसर्गों से विशिष्ट सद धातु का यही अर्थ स्मृतिकारों ने अन्यत्र भी कहा है अब उस संप्रदाय को बता रहे हैं परंपरा जिस ब्रह्म विद्या की परंपरा को सुनने से लगता है कितनी अनादिकालीन श्रेष्ठ परंपरा है इसलिए अपारंपरिया यदि कोई ग्रहण कर लेता है इस चीज को स्वयं पढ़ करके या अनधिकारी होकर सुन करके वो अपरंपरा ग्रहण करना हुआ क्योंकि पर विधिवत उपसन्नाय सब स्पष्ट बोलेगा तीसरे मंत्र में आप देखेंगे विधिवत उपसन्नाय तो वेदांत श्रवण करने के लिए भी विधिवत उपसाधन होनी चाहिए और इसी से पूरा उपसंभव करके ग्रहण करता है तो उसको इस विद्या का फल नहीं मिल सकता और जो शब्द जाल को पकड़ और बाहर जाके दुकानदारी कर देगा और कुछ नहीं कर सकता तो अहंकार होगा मैं बहुत बड़ा वेदांत आता हूँ अनेक उसके अंदर और चीजें आ जाएंगे इस ब्रह्म विद्या उसके लिए पचेगा नहीं इसीलिए संप्रदाय को बताए ओम ब्रह्मा देवाराम प्रथम संबभूवा विश्व कर्ता भुवन से गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ओम उपरिषद शब्द मंत्रों को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंगलवाचक ओम शब्द का प्रयोग किया गया अथवा दूसरे शब्दों में ओम ही एकमात्र एक अनेगाद्विज वास्तविक सत्य स्वरूप है जो सत्य रूपा उस ओम में ही परिकल्पित ब्रह्मा ओम में परिकल्पित जो ब्रह्मा वह ब्रह्मा भी कैसा है असाधारण पुरुष है वो देवानाम प्रथम सकल देवों में प्रथम है महान है धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वर चतुर्विध जो वस्तु माना गया चारों परिपूर्ण है इसलिए वह प्रथम है अन्य देवों के अंदर किसमें धर्म प्रधान है किसमें ज्ञान प्रधान है किसमें वैराग्य प्रधान है किसमें ऐश्वर्य है लेकिन चारों के चारों की परिपूर्ण अवस्था ब्रह्मा जी में और किसी में इसे करे देवाराम प्रथम प्रथम ने प्रधान गुण ही प्रधान प्रथमा मतलब यह पहला पैदा हुआ अरे पहला तो पैदा हुआ है इस गुण की जरूरत नहीं है इसलिए प्रथमत्म या गुण ही प्रधानत्म इत्यर्थ गुणों के द्वारा प्राधान्यता को प्रथम प्रथम शब्द प्रथम शब्द तीसरे केवल ये प्रधान एक है कोशकार और कोशकार और संभव देवाना प्रथमा संभव अग्रेवा वो भी अर्थ ले लिया है गुण ही प्रधान आसम प्रथमो अग्रेवा संभव हुआ अभिव्यक्त यह सबसे पहला अभिव्यक्त है समय प्रकार से स्वतंत्र रूपेण अभिव्यक्त है वो विश्व से करता और कैसा है ब्रह्मा जी संपूर्ण विश्व का जगत का करता है उत्पाद ही रहा है उसके लिए कितना समय उन्होंने तपस्या की चंद्र की भागवत को प्राप्त किए तत्पश्चात सृष्टि का आरंभ किए भोरस्य गोप्ता और इस उत्पन्न जगत का पालयता भी वो अपना काम छोड़ दे सारा गड़बड़ हो जाएगा कुछ कुछ लोग मजाक की में कथाकार लोग कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी थक गए बहुत उन्होंने कहा कि ऐसा है हमको एक आध घंटा तो विश्राम करने दो 24 घंटा निरंतर इतने वर्षों से करते करते थक गए तो क्या करें ने कहा ऐसे करते हैं शिव जी यहाँ बहुत समाधि में रहा है हम एक घंटे समाधि में जाएंगे तो शिव जी को ड्यूटी सौंप दिया जाए तो शिव जी ने कहा ठीक है भाई अब फिर बच्चे हैं अब क्या करें विश्राम करना चाहते अच्छा, तो संभालना तो पड़ेगा जैसे बेटा कहता है भाई थोड़ा विश्राम करेंगे पिताजी तो आप घंटे पर दुकान में बैठ जाइए अब बुद्धा है तो बैठना तो पड़ेगा है ही नहीं वैसे ही शिव जी ने देखा मेरे ही तो ये सब है और कह रहे हैं तो ठीक है वो अपना चले गए ब्रह्मा जी के काम करने में बैठ गए वहां अब करेंगे क्या और सृष्टि बनाना है और हर आदमी के हिसाब किताब लिख रहा उन्हें तो पता है नहीं और अपने समाज में मस्त रहने उन्हें क्या लेन देन चीज अब उन्होंने जो सामने आते गए उसको चोट तार करके बनाना चालू कर दिया जो है जैसा तो है बनाते गए और फिर सोच गए सुनो की बना के मैं इधर उधर डाल दू सब उठपटांगी हो जाएंगे तो क्या होगा उन्हें एक जगह निर्णय किया जब वहां डालते हैं सबको अब उन्होंने जो भी पैदा कर दिया कहा कि दिन में एक ही बात करूंगा वो भी चौबीस घंटा नहीं करूँ मैं अपना ध्यान भजन को खराब करूँ काम भी कर दूंगा और ध्यान भजन भी खराब ना हो ठीक बारह बजे दोपहर होते ही उन्होंने इकट्ठे दस मिनट के अंदर पूरा का पूरा जितना चौबीस घंटा रहा तो सब बना करके पंजाब में डाल देते थे लोग कहते हैं कि बारह बजते दिमाग खराब हो जाता है का मतलब यह है कि कर्म ऐसा है कि उसमें निरंतरता है इस संसार का पालन करना कोई साधारण बात नहीं है थोड़ी सी त्रुटि हो जाए सारा काम बिगड़ जाए कभी शिव जी से क्यों ये बात शिव से पूछा गया कभी क्या करो मैंने सारा पुर्जा तो मिल गया था लेकिन ये पुर्जा ढंग का मिला नहीं कौन सा बुद्धि ठीक सी मिली नहीं अब ये बेढंगा बुद्धि वालों को मिटा दो क्या कर कल्पना किया हमने बुद्धि वो बुद्धि हमने डाल दिया वो कल्पित बुद्धि काम ठीक से कर नहीं रही है उनके कर्मांतर असली बुद्धि जो होनी चाहिए वो है नहीं इसलिए बड़े बड़े भी सरदार ऐसे ही होते हैं एक बार विश्व का बहुत नंबर एक धावक माना जाता था मिल्का सिंह बहुत प्रसिद्ध आदमी वो तो विदेश में पहली बार गया और वहां उसके दरवाजा खटखटाए तो जो बैठे होते हैं ना होटल में तो खोला उनने पूछा are you relaxing I am Milkha Singh उसको पढ़ा दिया गया था अंग्रेजी शब्द बोलना कोई तुम्हारा नाम पूछे बोलना तो आई एम मिल्का सिंह ये बोलना बस वो रखा हुआ था वही पूछ गया अब वो पूछ रहा था विश्राम कर रहे क्या रिलैक्सिंग का मतलब विश्राम करना आप विश्राम कर रहे हैं कोई व्यवधान तो नहीं हुआ और वो कहते मैं मैं रिलैक्सिंग नहीं हूँ मैं मिलकाशी <laughs> तो इनकी अक्कल ही ऐसे होती चाहे कितने वर्ष का नंबर एक भावक हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए इनको संसार का राष्ट्रपति बड़ा तो नहीं पड़ने वाला है ये तो बारह बजते गड़बड़ा जाएंगे <laughs> तो कहने का मतलब ब्रह्मा ऐसा महान है देख लीजिए उनकी सृष्टि में एक भी चीज गड़बड़ नहीं मूल व्यक्ति इस ब्रह्म विद्या का संप्रदाय का करता है उस ब्रह्मा जी के इतने वर्णन क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस वेदांत का कथन करना शब्दों में बहुत आसान हो सकता है लेकिन वास्तव में वेदांत का धारण करने की क्षमता उस महान विरक्त कर्मी में है विलक्षणता ब्रह्मा जी को क्यों ले रहे विश्व से करता भुवन से भोगता जो कर्म से भागता है वह प्रमाणी पुरुष का वेदांत कोई पच नहीं सकता है कर्म से भागना नहीं है इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकार से मापलेश कर्माभिभान को त्याग दो कर्म के अभिमान को त्याग दो कर्म के फल को त्याग दो अपने शरीर में उपाधि को लेकर प्राप्त अहंता ममता वर्णाश्रमत्व निष्ठा जो उसको त्याग दो जिसको संन्यास निष्ठा करते उसको अपना करके प्रारंभ कर्मा तो से होता सकल कर्मों को होने दो ब्रह्मा जी क्या है अपने प्रारंभ कर्म को है तो भोग कर रहे हैं सृष्टि क्यों बना रहे ब्रह्मज्ञानी होते हुए उनका प्रारंभ कर्म है और उनको ड्यूटी मिला है ड्यूटी निभा रहे हैं तरह विशेषणों को लेकर समझाया गया कि ऐसे ब्रह्मा स वह ब्रह्मा ब्रह्म विद्या सर्विद्या प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या कैसी है सगर प्रकार की विद्याओं की प्रतिष्ठा स्वरूप है ऐसी विद्या को अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र प्राह अथर्व अथर्वा नाम से सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ पुत्र है उनके लिए उन्होंने कहा भाष्यकार ब्रह्मा कौन है वो परिवृढ़ परिवृण कैसे प्रयोग कर दिया कहते अत्यंत वृद्ध परिवृण बने अत्यंत वृद्ध तो उम्र से के ज्ञान से वृद्ध भी चार प्रकार के गिने गए हैं ज्ञान वृद्धि वास्तविक वृद्ध होता है ना ज्ञान वृद्ध ही वास्तविक वृद्ध है आयु से वृद्ध तो सभी होते ही है धन से वृद्ध को तो बहुत लोग होते हैं और साधना गुण से युक्त आय संपन्न अलौकिक ऐश्वर्य से भी वृद्ध बहुत होते हैं लेकिन ज्ञान वृद्ध तो कोई कोई होता है इसलिए कहते हैं परिवृढ़ उसकी टीका देखिए बहुत सुंदर दिया है ज्ञानम प्रतिबम यश्य वैराग्यम जगत बने हैं ऐश्वर्य धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम ये चारों चीज उस ब्रह्मा जी के सह सिद्ध है कौन ज्ञानम प्रतिबंध अप्रतिभ ज्ञान प्रतिबंध रहित ज्ञान है प्राथिव ज्ञान नहीं है प्रतिबंध ने प्रतिभा से उत्पन्न जो ज्ञान वो प्राथिव ज्ञान कहता है यह अप्रतिभ ज्ञान है मैंने स्वाभाविक ज्ञान यश वैराग्य जगत बने है ज्ञानम अप्रतिबम वैराग्य अप्रतिबम ऐश्वर्य प्रतिबंध रहितम धर्मश्च ये चार चीज ज्ञान वैराग्य धर्म और ऐश्वर्य स्मरण धर्म ज्ञान वैरागेश्वरी ही सर्वान अन्यान अतिक्रम्य वर्तते परिमृढ़ सिद्धम इत्यर्थ अन्य समस्त लोगों को अतिक्रमण कर रहे हैं धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वर के द्वारा इसे इस ब्रह्मा को परिवृढ़ शब्द से भी कहा गया अर्थात महान धर्म ज्ञान वैराग्यश्वरी ही सर्वानन्या अतिशेते इति परिवृढ़ यही उनकी महानता है यही उनकी परिवृढ़त्व है कि वे धर्म ज्ञान वैराग से अन्य समस्त को अतिक्रमण करके रहते हैं देवानाम द्योतनवताम इंद्रादी नाम प्रथमो द्योतनवान इंद्रादी जो प्रकाशमान है ऐश्वर्यवान है उन ऐश्वर्य वाले इंद्रादियों में भी वो प्रथम है अर्थात गुण ही प्रधान का गुणों के द्वारा उनके अंदर प्राधान्यता है अग्रे व संभव अथवा प्रधान रूपेण है अथवा सबसे पहले उत्पन्न होने से भी उनको प्रथम भगव कहा जाए अभिव्यक्ता सम्यक स्वातंत्र सम्यक स्वातंत्र के साथ प्रथम अभिव्यक्त पुरुष वही है तीसरे संभोगात प्रथम का अग्रत्व भी हो सकता है संभव उत्पत्ति भी हो सकता है कोई आपत्ति विकल्प से वो भी अर्थ ले लिया न तथा तो यद धर्माधर्मशात संसारिण अन्य जायंती उस प्रकार से नहीं है ब्रह्मा जी जिस प्रकार के दूसरे देवता आदि से लेकर मनुष्य पर सभी के संयोनियों के जीव संसारी धर्माधर्म के अधीन होकर के ही जन्म लिया करते हैं वैसे इनका जन्म नहीं है यो सौवतीन्द्रियो अग्राह्य इत्यादि स्मृत है स्मृति भी कहती है यो वसुभूत इंद्रियो ग्राह सूक्ष्म व्यक्त सनातन सर्वभूत चिंत्य हो सही स्वयं उद्भव हो वो स्वयं ही उत्पन्न हो गया इसलिए स्वयं भू भी कहते हैं इसे उनको स्वयं भू परमात्मा कहते हैं सर्वभूतमय है अचिंत्य स्वरूप वाला है सूक्ष्म व्यक्त सनातन और इंद्रिय इसलिए इंद्रियों की रगराही नहीं है ऐसा विलक्षण वह प्रथम जो हिरण्य नाम से प्रसिद्ध है वह ब्रह्मा जी नहीं इस विद्या का प्रवर्तक है समझो विश्व से सर्वस्व जगत कर्ता उत्पादिता विश्व से कर्ता विश्व मने सर्वस्व संपूर्ण वस्तु तो किसके वो भी जगत इस जगत के अंदर विद्यमान सकल वस्तुओं का करता है उत्पादित उत्पन्न करने वाला से उत्पन्न से गोप्ता काला इस उत्पन्न जगत का पालन कराने वाला भी वही है यदि विशेषण ब्रह्म विद्या सब विशेषण जो दिया गया है उस ब्रह्म के प्रति इसलिए दिया गया है क्योंकि विद्या का स्तुति के लिए यह विद्या कोई साधारण पुरुष के द्वारा आया हुआ नहीं है इसकी परंपरा ऐसे उत्कृष्ट पुरुष की तरह है जो कि सृष्टियों का सृष्टि का ही निर्माता है और पालयता है और सर्व सृष्टि की अपेक्षा से पहला उत्पन्न भी है परिवृत भी है सर्व ईश्वर संपन्न है अतः विद्या अत्यंत उत्कृष्ट है और अपने आप में परिपूर्ण है यह साबित होता है सएव प्रख्यात महत्व इस प्रकार से प्रख्यात महत्व वाला यश वाला जो सामर्थ्य वाला है कौन ब्रह्मा ब्रह्मा जी उन्होंने ब्रह्म विद्याम ब्रह्म परमात्मा विद्याम ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म में शुद्ध परमात्मा उसकी जो विद्या है ब्रह्म विद्या हे आप चरम पुरुषम वेद सत्यम जिस विद्या के द्वारा वह अक्षर पुरुष को जो सत्य होता है उसे लोग जान पाते हैं उस ब्रह्म विद्या को थी विशेषणार्थ परमात्म विषय ही सा इस ब्रह्म विद्या में अपना ब्रह्मा जी की अपनी विद्या नहीं यहाँ ब्रह्म से शुद्ध ही लिया जाएगा परमात्मा उसकी विद्या क्योंकि आगे स्वयं मुंडक में ये नक्षरम पुरुषम वेद सत्यम मैसे का है एक दो तेरह में ब्रह्मणा व अग्रजे न उगता है ब्रह्म विद्या तो ब्रह्मणा उगता है ब्रह्म विद्या ऐसा भी ले लो एक पास तो ब्रह्मणा विद्या ले लिया शुद्ध ब्रह्म संबंधी विद्या अथवा ब्रह्मणा अग्रजेन उक्ता तेन प्रोक्त इति ब्रह्म विद्या जो अग्रज है हिरण्य है ब्रह्मा है उनके द्वारा कहा हुआ है जो उसका ब्रह्म विद्या काम सर्विद्या प्रतिष्ठा वो कैसी है लेकिन ब्रह्म विद्या ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ अपनी कोई कहानी नहीं है इसलिए कहते वो सकल विद्याओं की प्रतिष्ठा है सर्व विद्या प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या सर्व विद्या व्यंजकतया सर्विद्याश्रया सकल विद्याओं को वही अभिव्यक्त कर रहा है सूत्र रूपेण वेद में ही सारी विद्याएं छिपी हुई है और उसमें से भी तो ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ विद्या तो संपूर्ण उसी के चार मुखों से सारी चीजें निकली हुई है ब्रह्मणा उक्ता में इस पक्ष में तो अर्थ उचित ही है सर्विद्या व्यक्ति हेतु तो सगल विद्याओं के अभिव्यक्ति का कारण है सर्विद्या आश्रयाम सगल विद्याओं का आश्रय होता है अर्थात अथवा सर्विद्याओं के आश्रय परिसमाप्ति है जिसमें सारी विद्याएं आपको परिचिन जो फल है ना उन्हीं को देखे निवृत्त हो जाते हैं विद्या ऐसा है जो सकल विद्याओं का फल है वो इसी विद्या से प्राप्त होने वाला है इसे सारी विद्याओं की परिसमाप्ति का स्थान विशेष अधिकरण विशेष आश्रय विशेष है ब्रह्म विद्या यश्याम उत्पन्नायाम ज्ञातव्य भावता भावा सा सर्विद्या क्योंकि जिसके जानने के बाद या जिसके उत्पन्न होने के बाद और कुछ जाना ही नहीं रह गया जानने योग्य कुछ भी नहीं रह गया इसका मतलब अन्य अन्य विद्याओं के ग्रहण करने के बाद कुछ अन्य और चीज जानने योग्य रह जाता है आपने एक विद्या को अपनाया तो दूसरी विद्या भी आपके पास नहीं है लेकिन यह आप विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको ग्रहण करने के बाद आपको सारी ज्ञान हो जाती है सब ज्ञान रहेगा हर चीज का सामान्य रूपे में रहेगा और संकल्प विशेष रूपे में भी उनको जान सकता है सर्व विद्या वेद्यम व वस्तु नहीं विद्या थे सकल विद्यांगर विद्युता जो वस्तु है वो इसी विद्या के द्वारा ज्ञान हो जाएगा ये न श्रुतम श्रुतम भवती अमदम मदम विज्ञातम विज्ञातम स्पष्ट ये जो अश्रुत है वह सब श्रुत हो जाएगा अमत है वो भी मत हो गया जो अविज्ञात है वह भी विज्ञात हो गया सर्विद्या प्रस्ताव स्तौती कि सर्विद्या प्रस्ताव का करके स्तुति उस विद्या की की गई है तारस विद्या को अथर्वाया ज्येष्ठ पुत्र प्राहा ज्येष्ठ पुत्र अनेकेश ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेश ज्येष्ठ पुत्र मतलब और पुत्र होंगे ऐसी बात नहीं है तात्पर्य है जितनी भी प्रकार की सृष्टिया है ब्रह्मा जी के निर्मित उन सभी में अनेकेश ब्राह्मण सृष्टि प्रकारेश अन्यतम से सृष्टि प्रकार से प्रमुख है उनमें से अन्यतम है मनुष्य योनि उनमें भी जो प्रमुख है प्रमुख के अंदर क्या पूर्व प्रमुख है मैंने आरम्भ है उन सभी के आरम्भ में पूर्वम प्रजांतर अपेक्षा अन्य प्रजाओं की अपेक्षा से जो पहला उत्पन्न है उसका नाम अथर्वा है अथर्वा सृष्टि थी ज्येष्ठा तस्मी जिनेश उत्थाय प्राह उक्तवान उनके लिए नहीं उपदेश किया था इधर तो भृगवादी समस्त ऋषियों को लेना भृगवादी से अर्थ तो अयम संग्रह सत्य पूर्व इत्यादि विरोधम आशंक्य कल्प भेदम आदय समाधते कल्प भेद को लेकर सारी व्यवस्था समझनी चाहिए कौन अग्रता क्योंकि कोई भाई सब ऋषि थे पहले दस प्रजापति उत्पन्न हुआ था पहले कई सृष्टि किसी सृष्टि में किसी चीज को प्रार्थना किया गया है ये किसी अन्य कल्प की कहानी है जहाँ पहले अथर्वा को उत्पन्न किया गया था अथर्वणीयाम प्रवदेता अथर्वा ताम परोवाचांगिरी ब्रह्म विद्याम स भारद्वाज वहाय प्राह भारद्वाजो अंगिर से परावराम अथर्वणीयाम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम विद्याम पुरा अंगिरे उवाच ताम्र में पुरा अंगिरे उवाच जिस ब्रह्म विद्या को याम्र विद्या अथर्व ने ब्रह्मा प्रवदित जिस ब्रह्म विद्या को अथर्वा के लिए ब्रह्मा जी ने पहले उपदेश दिया था उसी विद्या को तामेव ब्रह्म विद्या उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा महर्षि ने क्या किया अंगिरे उवाच अंगिरस के लिए कहा स भारद्वाज है और वो अंगिरा ने क्या किया भारद्वाज के लिए भारद्वाज मैंने भरद्वाज गोत्रोत्पन्न नाम से सत्यवाह नाम से सुप्रसिद्ध उस ऋषि के लिए कहा राहो और वो जो भारद्वाज सत्यवाह था उसने क्या किया भारद्वाजो से पहले वाला अंगिरा था अंगिर अंगिर से किस चीज को परावरा परावराम परसवाद भी अवरेण प्राप्त आई थी इसलिए प्रविद्या का दूसरा नाम क्या हो गया परावराम पर पर से अवर अवर वाले क्या ग्रहण करते है ना ब्रह्मा जी पर थे उनसे अवर हो गया अथर्वा अब अथर्वा पर हो गया उनसे अवर हो गया अंगिरा अंगिरा भी पर हो गया उसका अवर हो गया सत्यवाह सत्यवाह भी पर हो गया उसका अवर हो गया अंगिरस इस प्रकार से कर्म करते करते करते आज तक आया हुआ है इसलिए ज्ञापन करा रहे हैं कि गुरु परंपरा का वस्तु है शिकार या वेता मतर्वण प्रवदेता अवदत प्रवदेता है उसका लेकर वास्तव होना अवदत ब्रह्म विद्या ब्रह्मा कौन कहा था ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या को जिस ब्रह्म विद्या को अथर्वण अथर्वा के लिए कहा था तामेव ब्रह्म प्राप्ताम अथर्वा वही विद्या को जो ब्रह्म से प्राप्त था उसे अथर्वा पुरावन पूर्व वाच किस लिए अंगिरे अंगिर नाम ने अंगिर नाम का व्यक्ति को अंगिरा नाम के व्यक्ति को ब्रह्म विद्या कहा सच अंगी भारद्वाज आया और वह अंगिर आ गया भारद्वाज के लिए भारद्वाज में भरद्वाज आया सत्यवाय सत्यवान नाम ने भरद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवन नाम वाले उस ऋषि को आपने प्रोक्तवान कहा था और भारद्वाज सत्यवाह ने क्या किया अंगिरा से स्वशिष्याय पुत्र वो अपना शिष्य होगा या उनका पुत्र होगा उनको उन्होंने दिया परावराम परस्मा अवरेण अवरेण प्राप्त परावरा परावर सर्विद्या विषय व्याप्तिर्वा पर और अवर सफल विद्याओं को व्याप्त करने वाले ऐसा व्याप्त हो सकता राम ने गुरु परंपरा के स्तर से पर पर के द्वारा पर पर से और अवर के द्वारा प्राप्त ऐसे करके भी कर दूसरा पर और अवर जितनी भी विद्या है सकल विद्याओं में व्याप्त परावर सर्व विद्या विषय व्याप्त है सर्व विद्याओं के विषय को व्याप्त करने वाली विद्या है ताम परावराम अंगिरस कहा और वह परावर प्रविद्या को अंगिरस के लिए कहा इसलिए आपको याद लेना पड़ेगा इत्यनुषंगा और उस अंगिरस के पास शौनक महर्षि पहुंचे शौनको हई महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न पक्षा कस्मो भगवो विज्ञात सर्वजम विज्ञातम भवती शौनक हई महाशालो शौनक महर्षि जो ये कैसे थे वो महाशाला महारास्ता बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे हजारों विद्यार्थी इनके पास रहे एक दो नहीं हजारों रहते इतने बड़े गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं इसलिए इनका नाम महाशाला कहा जाता है महाव्यवस्था ऐसा होते हुए भी उनको भी कुछ बात मन में खलता रहा जिसकी वजह से उन्होंने अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छा अंगिरस के शरण में आकर के विधिवत उपसन्न पप्रच्छा तो विधि पूर्वक जा करके विधि पूर्वक उनके शरण में जाकर के पूछा भगवन भगवा जो है उसको भगवन कस्मिन विज्ञात शरण जो विज्ञातम भवती किस वस्तु के ज्ञान हो जाने पर सब कुछ ज्ञातव्य पदार्थों का ज्ञान समय हो जाता हो वह पदार्थ के बारे में उपदेश दीजिए अर्थात जिसे जानने के बाद फिर अतिरिक्त कुछ और अन्य जानने योग्य कोई भी पदार्थ शेष नहीं रह जाता हो उसका उपदेश दीजिए इसके प्रश्न के आधार यह है कि उसके दिमाग में एक बात निश्चित है कि कार्य और कारण द्वारा भिन्न अत्यंत भिन्न नहीं हो सकता जो कारण है उसी में सरल कार्य परिकल्पित थे अतः मुझे उस कारण का ज्ञान दे दीजिए जिस कारण में समस्त संसारों के कार्य परिकल्पित हो इस कारण का ज्ञान यदि हो जाता है सरल कार्यों का ज्ञान सामान्य रूपेण तो हो ही जाएगा और सामान्य रूपेण ज्ञात वस्तुओं का विशेष यदि इच्छा है तो भी जान सकता है इसलिए वो वस्तु कौन है जो कारण भूता वस्तु सबके कल्पना का अधिष्ठान भूता वस्तु है उस वस्तु के बारे में उपदेश दीजिए यह शौनक महर्षि ने पूछा शौनक शौनक मैंने शुनक से अपत्यम शौनक शुनक का जो बेटा वो शौनक महाशाल महाग्रस्थो अंगिरसम भारद्वाज शिष्यम आचार्य भारद्वाज का शिष्य भूता जो आचार्य थे अंगिरस महर्षि उनके पास विधिवत यथाशास्त्र विधि उपसन्ना उपगत सन पप्रच्छ पृष्ठवान उसी के अनुसार यथाशास्त्र में जैसा बताया गया है उसी के अनुसार वह उन नियमों को पालन करते हुए उनके शरण में गया और पूछा विधि क्या है ऐसा लगता है कि इससे पहले कोई नियम नहीं था शौनक करें विधिवत किया और बाकी उनके लिए तो नहीं आया विधिवत की ब्रह्मा जी ने अंगिरा को कहा अंगिरा ने जो है सत्यवाह को कहा सत्यवाह ने अंगिरस को कहा यहाँ तक तो कहीं विधिवत नहीं था आया इससे आगे के लिए कहते शौनक तो उपस्थापित हुए क्योंकि किसी मन में आशंका हो सकता है पहले परंपरा विधिवत होकर कुछ भी नहीं था इस शौनक ने जो के समय से ये शुरू हुआ ऐसा उस कल्प में उत्तर वर्ग सगल कल्पों में आरंभ हो गया ये मान लो कहते ऐसी बात नहीं है यहाँ जो है ना देखे इसे मर्यादा करणार्थम ये मर्यादा करण करने के लिए है अतः उत्तरेशा नियमार्थम इसलिए उत्तरवर्तियों के नियम में पूर्ववर्तियों के नियम नहीं था ऐसा कुछ लोग मर्यादा करणार्थ इसको मान रहे हैं अभिव्याप्ति तर्क अभिविधि तर्क नहीं मानते ऐसे नहीं लगता क्यों तो इसलिए कहते देखो यहाँ पर टिप्पणकार इस बात को कहते हैं अस्तुवा पूर्वेशा भी नियम आस्था अत्रि विशेषण संगति मत दीपिका न्याय नहीं थी इसलिए भाष्यकार इसके जवाब में कहेंगे मध्य दीपिका न्यायत्म व विशेषणम स्वर्ण कांग संबंधात अरवा बात है ना शौनक और अंगिरस इनके जो गुरु शिष्य संबंध से पूर्व काल में विधिवत विशेषणाद उपस्थित विद्य है पूर्व ऐसा अनियम इति गम्यता है जो विधिवत ये विशेषण यहाँ पर देखने उपसदन के प्रति विधिवत ये विशेषण को देखने से लगता है कि इनके शौरक और अंगिरा के संबंध से पूर्व में ये कोई नियम नहीं था मर्यादा करणार्थम लेकिन उसी नियम को सर्वथा मर्यादा करण करने के लिए ही मध्यम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषण पहला पक्ष में मर्यादा करने इसे पूर्व में नहीं था इसे आगे चालू दूसरे में लेकिन नहीं नहीं मध्य दीपिका न्याय से पूर्वोत्तर सभी के लिए लागू था संबंध गहरी दीप न्याय अमृत दीप का न्याय एक ही चीज है तो बीच में आपने रख दिया तो अंदर ही प्रकाश रहेगा बाहर भी प्रकाश जब बीच में बड़ा वस्तु पूर्व में पर में सर्वत्र में होगा जब पूर्व में भी नियम था बाद में भी नियम रहेगा ये इसका तात्पर्य हो जाता है असमदादिशो अपनी उपसदन विधेय इस तत्व क्योंकि इसलिए ही हम लोगों के प्रति हम लोग असमदादिशो अपनी उपसन वेर श्रद्धा जो उपसदन विधि है वह हमारे लिए भी अत्यंत इष्ट ही है क्योंकि उपसन्न पप्रच्छा उपगता पप्रच्छा जाकर के पूछा किमित्या क्या उसने जाकर के अप्रच ना उसने क्या जाकर बोला क्या पूछा कस्मिन भगो विज्ञाते नो इति वितर्क है कसिन नु भगवो विज्ञाते यहाँ पर जो नु है ये वितर्क भगवो मने हे भगवन सर्वम यम विज्ञातम विशेषेण ज्ञातम ये जो कुछ भी विज्ञेय है वह सब विज्ञात है अगर विशेष रूप है विज्ञात हो जाए अवगतम भवती एक कस्मिन याद यादे सर्वित भवती एक तत्व के जानने मात्र से ही वह सर्वित हो जाए प्रत्येक तत्व को अलग अलग जानने के प्रयास करने की अपेक्षा से उस एक तत्व को जानने मात्र से ही सकल तत्व का ज्ञान हो जाता है ऐसे तत्व को देश के लिए प्रार्थना करना है इति शिष्ट प्रवाद श्रुतवान शौन का ऐसा शौनक ने शिष्ट प्रवाद को सुना था तद विशेषण विज्ञात काम उसी जो शिष्ट प्रवाद जो श्रुत था उसी के विशेष स्वरूप न जानने की इच्छा से कस्मिन इति वितर्कयन पप्रच्छा इसे कस्मिन करके सीधा ही उसने वितर्क करता हुआ पूछा अथवा लोक अज्ञात ज्ञातव्य पप्रच्छा या तो लोक सामनिष्ठि से वो जान लिया था जो भी कार्य है उसे कोई न कोई कारण जरूर होगा जगत रूपी भी एक विशाल कार्य है इसका भी कोई कारण होगा अधिष्ठान ऐसे उसको लोक सामान्य दृष्टि जो था उसी के आधार पर उसने पूछ लिया यहां तो शिष्ट प्रवाजों से सुना हुआ के आधार पर सामान्य ज्ञान थी केवल ब्रह्म नाम का चीज है जिसमें सगल संसार की परिकल्पना का अधिष्ठान है वो ऐसा वो सामान्य रूपेण शिष्ट प्रभाव से जान लिया था और उसी का विशेष रूपेण जानने की ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है अतः लोक सामान्य दृष्टि यही है कि कार्य कारण अत्यंत अभिन्न रहता है अतः कार्य के अधिष्ठान कारण का ज्ञान होने से सगल कार्यों का ज्ञान जिस प्रकार हो जाता है उसी प्रकार से जगत भी कार्य का भी कोई न कोई अधिष्ठान कारण होगा और उस कारण को जानने से अवश्य ही हमें सकल कार्यों का ज्ञान हो जाएगा इस भावना से भी पूछ रहा है इसे विकल्प पूर्वक विचार किया संति लोके सुवर्णादि सकल वेदा सुवर्णत्वादि एक विज्ञान मारा लौकिक ही क्योंकि लोक में देखने को मिलता है सुवर्णादि सकल वेदा सोने के टुकड़े अलग अलग बनाए हुए इसका कुंडल बना दिया कोई माला बना कोई अंगूठा बना दिया कोई कुछ बना दिया है लेकिन स्वर्णत्वादि एकत्व ज्ञान उसके अंदर में रहने वाला जो स्वर्णत्व इत्याकारक उस एक वस्तु तत्व की विज्ञान के द्वारा न्याय माना और सकल अनेक जो भेद है सबका ज्ञान हो जाता है किनको लौकिक ही लौकिकों के द्वारा भी ऐसा ज्ञान कर लेते हुए देखने को मिलता है तथा ठीक उसी प्रकार से अस्थित सर्वस्व जगत भेद से एक कारण क्या संपूर्ण जो जगत भेद अनेक प्रकार से दिखाई पड़ता हुआ इस अनेक प्रकार से अनुभूत इस जगत का भी कोई एक कारण है क्या यदि एक विज्ञात सर्व विज्ञात बहुत जिस उस एक कारण रूप अधिष्ठान विज्ञान का वस्तु का ज्ञान होने पर सकल होते जो विज्ञान है उसका हो जाना तब पूर्व पक्षी यहाँ पर विचार करता है कसमिन क्यों कहा है अपने शास्त्र भाष्यकार ने अपने शास्त्र का अर्थ बताते हुए स्पष्ट कर दिया दो पक्ष है या तो पहले से सुना हुआ था शिष्ट प्रवास यह लोक सामान्य का जो नियम है का भाव को लेकर के उसके आधार पर पूछा है जवाब तुम्हें तो मिल चुके कहता है कस्मिन कहना ठीक नहीं यह सप्तमी जो है ना वो उचित नहीं बनता है किंतु किम अस्थि तक ये पूछना चाहिए था पूछना क्या चाहिए कि मस्ती तो किंत तो वस्ती वो क्या है वस्तु किसके जाने जाने पर